पिता परमात्मा का स्मरण सुख कारक परमात्मा प्रणव ध्वनि Oh. प्रेमी सज्जनों इधर का इधर का आप लोगों को थोड़ी सी बात हो रही है वो मेरे को संकेत कर रहे थे थोड़ा बहुत चलता है कोई बात नहीं अभी ठीक है सब ठीक है धर्म प्रेमी सज्जनों आर्यों को परमात्मा से कैसी प्रार्थना करनी चाहिए उसका एक रूप आज के मंत्र में भी हमें प्राप्त होता है ये मंत्र यजुर्वेद के छत्तीसवें अध्याय का तेईसवां मंत्र है और आर्याभिविनय के द्वितीय प्रकाश का उनतीसवा मंत्र है मंत्र है सुमित्रिया न आप औषधय संतु औषधय और आप जल प्राण विद्या आदि ये आप शब्द से लिए गए और औषधय अन्न वनस्पतियां आदि जो हैं खाद्य पदार्थ हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं वे सब न हमारे लिए सुमित्रिया संतु सुमित्र के समान हो जाएं मित्र जो हमारा हितैषी होता है हमारा हित करता है हमारा प्रिय होता है और सुमित्र जो मित्र सदा हमारा भला ही करता है मित्र होते हुए अज्ञानता के कारण भी हमारा अहित होता है लेकिन सुमित्र न तो अनजाने में और न जान करके हमारा अहित करेगा जानबूझ के तो वो कभी नहीं करेगा तो सुमित्र वो जो बहुत अच्छी तरह हमारा हित करता है तो उसके समान ये औषधियां हो जाएं, ये जल हो जाएं हमारे लिए और दूसरों के लिए दुर्मित्रिया संतु बुरे मित्र के समान हो जाए बुरा मित्र वो जिसको हम तो मित्र समझते हैं लेकिन वो हमारी हानि करता है वो दुर्मित्र है हम किसी को हितकारक प्रिय अपना समझ रहे हैं लेकिन वो हमारा अहित कर रहा है तो हमारी दृष्टि से वो मित्र होते हुए भी दुर्मित्र हो गए हैं हमारी दृष्टि से वो मित्र है उसकी दृष्टि से वो हमारा अहित कर रहा है वो दुर्मित्र है और अंततः वो हमारे लिए भी दुर्मित्र हो जाएगा तो जो जल औषधियां आदि हैं इन दोनों से हम संसार के समस्त पदार्थों का ग्रहण कर सकते हैं ये प्रतीक के रूप में जल और औषधियां हैं जल को हम अपना मित्र समझते हैं हितकारक समझते हैं प्राण को हम अपना हितकारक समझते हैं विद्या को हम अपना हितकारक समझते हैं और औषधियां भी हमें हितकारक प्रतीत होती हैं हम उनको अपना हित करने वाली समझ करके सेवन करते हैं विभिन्न जो चावल आदि पदार्थों को खाद्य पदार्थों को तो ये सब उसके लिए दुर्मित्र के समान हो जाए यो असमान द्वेष्टि जो हमें द्वेष करता है हम सबसे द्वेष करता है और यम च वयम द्विष्मा जिसके प्रति हम सब द्वेष रखते हैं इस प्रकार की प्रार्थना वेद मंत्र में की गई स्थूल रूप से देखें तो ये प्रतीत होगा कि एक बहुत सामान्य व्यक्ति के द्वारा एक लौकिक व्यक्ति के द्वारा एक निम्न स्तर के व्यक्ति के द्वारा ये प्रार्थना की गई है और बहुत निचले स्तर की प्रार्थना वेद के अंदर कही गई है कि ये अन्न औषधियां आदि जल आदि हमारे लिए तो हितकारी हो जाएं, सुखकारक हो जाएं, और जो हमसे द्वेष करते हैं हम जिनसे द्वेष करते हैं उनके लिए हानिकारक हो जाए कोई भी धार्मिक व्यक्ति आजकल जिस रूप में धर्म प्रचलित है उसको मानने वाले कभी ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हम अन्यों के अहित की कामना करें हम ये प्रार्थना करें कि इनके लिए ये अन्न और जल आदि हानिकारक हो जाए क्योंकि धर्म में तो यही सिखाया जाता है कि सबका भला हो ये औषधियां आदि जैसे हमारे लिए हितकर हों ऐसे अन्यों के लिए भी हितकारक हों और यहां वेद के अंदर भिन्न ढंग से कहा जा रहा है बहुत से लोग इस मंत्र के आधार पर और ऐसे ही बहुत से मंत्रों के आधार पर वेद पर आक्षेप भी करते हैं ये कैसे स्वार्थी लोगों का कथन होगा लेकिन ये वेद का आदेश है परमात्मा का निर्देश है कि हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए ये प्रार्थना कैसे उचित है ये समझने की बात है महर्षि ने इस बात को बहुत अच्छी तरह व्याख्यान में लिखा है प्रथम तो हमें यह समझना चाहिए कि ये प्रार्थना श्रेष्ठ मनुष्य कर रहे हैं ये प्रार्थना सब नहीं कर सकते दुष्ट व्यक्ति नहीं कर सकते दुष्टों को ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए श्रेष्ठ सज्जन आर्य जो समाज के हित के लिए लगा हुआ है अपने जीवन को ईश्वर की आज्ञा और वेद के अनुसार चला रहा है उसे ये अधिकार है ऐसी प्रार्थना कर सके महर्षि ने जिनके लिए ये हानिकारक हो तो वहां पर दुष्ट शब्द को जोड़ा है हम जिससे द्वेष करते हैं जो हमसे द्वेष करता है ऐसा वो दुष्ट व्यक्ति जब वो दुष्ट है दुष्ट के प्रति हम भावना कर रहे हैं कि उसके लिए ये हानिकारक हो जाए दुर्मित्रीय हो जाए तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि हम दुष्ट नहीं हैं इस प्रार्थना को करने वाला दुष्ट व्यक्ति नहीं हो सकता दुष्ट व्यक्ति को यह प्रार्थना करने का अधिकार भी नहीं है यदि हम आर्य हैं यदि हम श्रेष्ठ हैं यदि हम देव हैं उत्तम मनुष्य हैं तो ये प्रार्थना कर सकते हैं और इससे हमारी सज्जनता पर कोई दोष नहीं आता है कैसे ऐसी लिखते हैं जो अधर्म करे उसको आपके रचे जगत के पदार्थ दुखदायक ही हों जिससे वह अधर्म न करे प्रयोजन क्या है जिससे वह अधर्म न करे और यदि वो व्यक्ति अधर्म नहीं कर रहा है तो उसका हित होगा या अहित होगा उसका हित ही होगा ये जल और औषधियां उसके लिए हानिकारक हो जाएं जिससे कि वो अधर्म न कर सके अब एक प्रार्थना बिल्कुल बदल गई जो व्यक्ति इसमें दोष देखते हैं वो केवल ये देख करके कि दूसरे की हानि की प्रार्थना की गई है ये औषधियां उसके लिए हानिकारक हों लेकिन वो हानिकारक क्यों हो जिससे कि वो अधर्म न कर सके यदि ये जल और औषधियां उसको भी अच्छी हो, होती रहे लाभकारी होती रहे तो उसका बल बढ़ेगा अंदर की प्रवृत्ति उसकी दुष्ट है तो वो गलत कार्यों को ही और अधिक करता जाएगा इससे उसको और अधिक हानि होगी हम सामान्य धार्मिक भावना में ये कहते हैं कि उनको भी ये अन औषधियां हितकारक हों तो उसका निहित अर्थ क्या होगा इनका बल बढ़ेगा और बल बढ़ के वो करेंगे क्या और अत्याचार करेंगे और लोगों को दुखी करेंगे तो ऊपर से ये धार्मिक भावना लगते हुए भी द्वेष रहित भावना लगते हुए भी ये गलत है और ये भावना ऊपर से द्वेष युक्त लगते हुए भी उचित है पीछे जो हमारी चर्चा चल रही थी कि द्वेष विद्या युक्त भी होता है और अविद्या युक्त भी होता है यहां जिस द्वेष की बात कही गई है हम जिससे द्वेष करते हैं ये विद्या युक्त द्वेष है और जो हमसे द्वेष करता है ये अविद्या युक्त द्वेष है द्वेष का मतलब अप्रीति सज्जनों को देवों को आर्यों को दुष्टों से अप्रीति करनी चाहिए द्वेष करना चाहिए लेकिन दुष्टों को अनार्यों को आर्यों से द्वेष नहीं करना चाहिए उनको उनसे प्रीति करनी चाहिए इसी में उनका भला है तो द्वेष विद्यायुक्त भी होता है और अविद्यायुक्त भी होता है महर्षि आगे लिखते हैं और हमको दुख न दे सके ये अन्न आदि उनको हानिकारक हो जिससे कि वो हमें दुख न दे सके पहली बात थी कि वो अधर्म ना कर सके और दूसरा हमें दुख न दे सके सज्जनों को दुख मिले ये कोई भी नहीं चाहेगा सज्जन क्या ये चाहेंगे कि दुष्टों का आतंकवादियों का बल बढ़े और वो हमारे को और दुख दें जो अत्यंत दुष्प्रवृत्ति के लोग होते हैं आके किसी को भी मार जाते हैं क्या हमारे मन में कभी ये भावना आती है कि इनके पास भी खूब धन हो उनको जो धन देते हैं उनको रोका जाता है उनके साधनों को बढ़ाने वालों को भी पकड़ा जाता है रोका जाता है ये गलत कभी नहीं माना जाता ये स्वीकृत है बिल्कुल यही बात तो यहां मंत्र में कही जा रही है क्या कभी हम ये कामना करेंगे कि जो चोर है उसके पास बहुत अच्छे अच्छे साधन हो मोटरसाइकिल अच्छी हो ताकि वो जल्दी से भाग जाए उसके पास खूब बल हो जिससे कि वो अपनी चोरी में सफल हो ऐसा कभी नहीं चाहते हम और न चाहना चाहिए हमें सदा ये कामना रखनी चाहिए ये जो दुष्ट व्यक्ति हैं इनके पास साधन ना हो इनके पास बल ना हो और परमात्मा ने जो शुद्ध चीजें दी हैं वे चीजें भी इनके लिए हानिकारक ही हो ताकि ये अधर्म ना करें और इनसे हमें दुख प्राप्त ना हो महर्षि के इस वचन से यह भी सिद्ध होता है कि अन्य व्यक्ति अधर्म पूर्वक हमें दुख दे सकते हैं हमारा कोई पाप कर्म था इसलिए वो दुख दे रहे हो ऐसा नहीं वो स्वतंत्र रूप से गलत कार्य करते हुए सज्जनों को दुख दे सकते हैं इसलिए हमें जो भी दुख प्राप्त होता है वो सब हमारे कर्मों का फल नहीं होता दुष्टों के द्वारा अन्याय पूर्वक किया गया कर्म होता है उससे हमें दुख मिलता है दुख मिल सकता है हमें उससे बचना चाहिए यही प्रार्थना यहां की गई है परमात्मा भी हमें दुख देता है साधनों को छीनता है पुण्यों के कारण उत्तम साधन देता है सुख देता है वो कर्माशय के अनुसार देता है कर्म के अनुसार देता है लेकिन उसके अतिरिक्त जो दुख हमें प्राप्त होता है वो न हो ये भी प्रार्थना की जा रही है यदि दुष्टों से मिलने वाला दुख हमारे ही कर्मों का फल होता और वो ईश्वरीय व्यवस्था से हो रहा होता तो वेद मंत्र में ये प्रार्थना कभी नहीं होती महर्षि ये वचन कभी नहीं लिखते कि हमें इनसे दुख ना हो यदि हम ऐसा सोचते हैं तो हम न्याय में ईश्वर के न्याय में बाधा पैदा कर रहे हैं लेकिन ये प्रार्थना उचित है इसी से पता लगता है कि अन्य अन्याय पूर्वक अनुचित रूप से हमें दुख दे सकते हैं और अंत में जो प्रार्थना है हम लोग सदा सुखी ही रहें हम अपने पुण्यों के कारण भी सुखी होते हैं अपने पुरुषार्थ के कारण सुखी होते हैं परमात्मा की व्यवस्था से हम सुखी होते हैं किन अन्य जो बाधा पैदा करते हैं उन्हें भी परमात्मा रोके और जब ये प्रार्थना की जा रही है तो इसका निश्चित अर्थ है कि परमात्मा ऐसा करता है ऐसा हो सकता है अब ये बड़ी विचित्र बात लगेगी कि उसी जल को सज्जन पिए तो उसके लिए सुखदायक हो और दुर्जन पिए तो दुखदायक हो वही अन्न सज्जन खाए तो हितकारक हो सुमित्र के समान हो और वही अन्न दुर्जन खाए तो दुर्मित्र के समान हो ऐसा हो सकता है ऐसा होता है सज्जन व्यक्ति जब शांत होता है सज्जन शांत ही रहेगा व्यवस्थित रहेगा उचित मात्रा में खाएगा ठीक ढंग से खाएगा तो वो ही अन्न और जल उसके लिए हितकर होंगे और जो दुष्ट होगा उसका मन विचलित होगा वो शांत नहीं रह सकता उसे चिंता शोक भय रहेंगे उससे उसका मस्तिष्क चंचल और विकृत रहेगा इसके कारण उसका खाना बिगड़ जाएगा वो गलत खाएगा गलत तरीके से खाएगा गलत ढंग से पिएगा हड़बड़ी में पिएगा तो वो ही जल उसके गले में दर्द भी पैदा कर सकता है और अंदर जब इन अन्न आदि का पाचन होता है तो जो धर्मात्मा है आर्य है उनकी बुद्धि शांत रहने से उनके पाचक स्राव ठीक निकलेंगे और उनका पाचन ठीक होगा ठीक रसायन बनेंगे और ठीक तरह से अवशोषित होकर के उनको स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी और जो अनार्य दुष्ट हैं जो ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोभ मोह से बहुत ग्रस्त हैं उनके पाचक स्राव अव्यवस्थित होंगे उनका पाचन ठीक नहीं होगा निर्मित चीज न जाने क्या से क्या बन जाएगी और वो जब उनके शरीर में जाएगी तो विभिन्न रोगों को पैदा करेगी वही अन्न पाचन के भेद से एक को हितकर होगा और एक को अहितकर होगा ऐसा संभव है भावनाओं के आधार पर भिन्न भिन्न प्रभाव हमारे पर आते हैं हमारे पर अच्छा और बुरा प्रभाव मात्र वस्तु के स्वरूप पर ही निर्भर नहीं करता उसके गुणधर्मों पर ही निर्भर नहीं करता क्योंकि वो झूका का तू तो हमारे शरीर में जाके नहीं लगता है बीच में एक लंबी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में भेद आने से वही जल और औषधि आर्यों के लिए हितकारक होंगे और अनार्यों के लिए अहितकारक होंगे अहितकारक हो सकते हैं ये प्रार्थना यहां की गई यहां और इस प्रकार के मंत्रों में एक बात और ध्यान देने की है ये कामना बहुवचन में की गई है यो असमान द्वेष्टि जो हमारे से द्वेष करता है यह द्वेष्टि ये एक वचन है और असमान बहुवचन है जो एक व्यक्ति हम सबसे द्वेष करता है और आगे भी यंच वयम द्विष्म जिससे हम द्वेष करते हैं तो यम ये एक है और वयम द्विष्म बहुवचन है हम जिससे द्वेष करते हैं एक व्यक्ति से कोई अकेला व्यक्ति ये सोच ले कि मैं धर्मात्मा हूं आर्य हूं और ये बाकी सब दुष्ट हैं मैं इनसे द्वेष करता हूं ये मेरे से द्वेष करते हैं तो बहुत अधिक संभावना है कि वो अकेला व्यक्ति स्वयं दुष्ट हो अकेला व्यक्ति अज्ञानता से गलत सोच सकता है गलत कर सकता है उसे ये भ्रांति हो सकती है कि मैं ठीक हूं मैं आर्य हूं और बाकी सब उसके विरोधी हैं उसको ये प्रार्थना करने का अधिकार नहीं है हां यदि हम बहुत हैं और हम सब इस बात से सहमत हैं कि हम ठीक हैं अब दोष की संभावना अति न्यून हो जाएगी हम सब श्रेष्ठ हैं और सामने वाले भी बहुत सारे नहीं हैं एक है हम सबका एक मत है कि ये एक व्यक्ति गलत है अब दूसरे को दुष्ट समझने की संभावना भ्रांति अत्यल्प हो जाएगी हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सबका आर्यों का ये मत है कि ये एक व्यक्ति गलत है हम सबसे दुर्व्यवहार कर रहा है उसके प्रति हम ये प्रार्थना कर सकते हैं इसके लिए ये सब चीजें हानिकारक हो जाएं और उसके लिए वो हानिकारक होती हैं वो हानि उठाता है यदि हम बहुत सारे हैं और वो भी बहुत हैं हम उन्हें हानिकारक समझ रहे हैं और वो हमें हानिकारक समझ रहे हैं परस्पर द्वेष है तो भी हमें विचारना चाहिए कहीं हम तो गलत नहीं है वेद के मंत्रों में जहां जहां भी ये मिलता है ये बहुवचन और एक वचन की विशेषता आपको मिलेगी संध्या के मंत्रों में भी मनसा परिक्रमा में बिल्कुल यही वाक्य है और भी जगह देखिए आप तो ये भी हमारे लिए एक संकेत है कि हम अकेले ये ना समझ लें कि मैं आर्य हूं और ये सारे के सारे दुष्ट हैं मेरे आसपास के जो अन्य व्यक्ति हैं ये दुष्ट हैं और मन चाहिए प्रार्थना करने लगे इस प्रार्थना का उपयोग करने लगे ऐसा करेंगे तो वो अनर्थ करेगा अपनी और हानि करेगा क्योंकि जो दुष्ट नहीं है उसको दुष्ट समझना ये अपने आप में एक बड़ा पाप है और उसको उनको दुष्ट समझ के वो उनसे ऐसा ही व्यवहार करता है वो और पाप कमाता चला जाता है इसलिए अपने अकेले के अहंकार में हम ये न समझने लगे कि हम तो आर्य ही हैं मैं तो आर्य ही हूं और दूसरों के प्रति कोई भी प्रार्थना करने लग जाए इस मंत्र का ऋषि दध्यंग आथर्वण है पिछले भी कई मंत्रों में ये आया तो धारण करने वालों को जो धारण करता है प्राप्त करता है जो व्यक्ति ऐसी प्रार्थना करता है और वेद मंत्र के अनुसार चलता है वो धारण करने वालों को प्राप्त कर लेता है जो चीजें हमें धारण करती हैं हमारा हित करती हैं उनको वो प्राप्त कर लेगा और जो ऐसा नहीं करता है वो धारण करने वाली वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर पाएगा कहीं ना कहीं जितने अंशों में दोष है उतने अंशों में वो अधारणियों को भी प्राप्त कर लेगा और धारणियों को प्राप्त नहीं कर पाएगा सबको नहीं कर पाएगा कुछ प्राप्त करेगा कुछ नहीं भी प्राप्त करेगा और आथर्वण ये दूसरों की हिंसा भी नहीं करता है ऐसी प्रार्थना करने वाला हिंसक नहीं है वो आथर्वण ऋषि है हिंसक नहीं है वो वेद की हिंसा अहिंसा की परिभाषा सार्वकालिक है और अत्यंत परिशुद्ध है सामान्य भाषा में हम द्वेश की बात करके कि दूसरे का अहित हो जाए दुष्ट का अहित हो जाए तो धार्मिक व्यक्ति भी ये कहता हुआ आता है और सोचता है कहीं ये द्वेष मेरी मुक्ति में बाधक ना हो जाए मैं हिंसा तो नहीं कर रहा हूं ऐसी अहिंसा वेदोक्त नहीं है और ये हानिकारक है व्यक्ति की भी हानि करेगी और समाज की भी हानि करेगी वेद के अनुसार हमें द्वेष करना चाहिए इसका एक दूसरा पक्ष और है कि जब आर्य को यह सिद्धांत तो स्पष्ट रहता है कि दुष्टों के लिए ये जल और औषधियां हानिकारक होती हैं तो वो दुष्ट बनना नहीं चाहेगा वो अपने को आर्य ही बना के रखेगा उसे स्पष्ट है मैं दुष्ट हुआ तो मेरे लिए भी ये उसी प्रकार हानिकारक हो जाएंगी यदि मैं बहुत सारे सज्जनों का द्वेषी बन गया मैं उन सबसे द्वेष करता हूं और वो सब भी मेरे से द्वेष करते हैं तो मैं भी उसी कोटि में आ जाऊंगा कि ये जल और औषधियां मेरे लिए दुर्मित्र होंगी हानिकारक होंगी तो वो ऐसा नहीं बनता है अपने आप पर भी लागू करता है दूसरों पर भी लागू करता है और जब हर व्यक्ति ये सोचने लगेगा ये समझ लेगा कि जब तक मैं आर्य हूं तब तक ही ये अन्न और औषधियां मेरे लिए हितकर होंगी नहीं तो नहीं मैं भले ही इनको मित्र समझता रहूं लेकिन ये मेरे लिए हानिकारक होंगी होती हैं वो तो इस संसार में सुखी रहने के लिए हमें आर्य बनना चाहिए ताकि ये हमारे लिए सब चीजें हितकर हों परमात्मा ने इन्हें हित के लिए ही बनाया है लेकिन परमात्मा अविवेकी नहीं है कि इनसे सबका पूरा पूरा हित हो परमात्मा ने इन्हें ऐसा बनाया है कि ये दुष्टों के लिए हानिकारक भी होंगे वो इन्हें मित्र समझेंगे वो इन्हें हितकर समझेंगे और बहुत सा लाभ भी होगा लेकिन कुछ हानियां भी होती रहेंगी जितनी जितनी उनमें दुष्टता है वो उनको हानिकारक होंगी इस मंत्र का देवता है सोम सोम जैसे औषधि हितकारक होती है शांतिकारक होती है रोग को हटाने वाली होती है ऐसा ये विषय आप और औषधि ये यहां पर प्रतीक के रूप में लिखी गई हैं ये सोम रूप हैं ये हमारे लिए कल्याणकारक है हैं शांति को देने वाली हैं तो आर्यों को मन में ये भावना ये प्रार्थना रखनी चाहिए आर्यों को ये निरीक्षण करना चाहिए कि वो झूठे प्रेम के अंदर तो नहीं फंसे हुए हैं कि दुष्टों का भी हित हो दुष्टों के लिए भी अहित की बात मन में न सोचें और ऐसा करते हुए दुष्टों को ही बढ़ावा दे रहे हों अधर्म को बढ़ावा दे रहे हों और अंततः अपने लिए श्रेष्ठों के लिए हानि पैदा करने की बात कर रहे हों और उस अधार्मिक को भी और अधर्म में फंसने की स्थिति पैदा कर रहे हों ये आर्यों को सोचना चाहिए ये बड़ी सूक्ष्म बात है लेकिन बहुत स्पष्ट बात है वेद का हमारे लिए यही आदेश है पूछिए दिलीप जी तेज बोलिए सबको सुनाई दे मेरे को सुनाई दे रहा है बिल्कुल ये है आज हम करते हैं आतंकवादियों के ऊपर अगर आक्रमण किया जाए तो उनके निवास स्थान उनके जल स्रोत उनके अन्न आदि उनके अस्त्र शस्त्र सब नष्ट किए जाते हैं करने आवश्यक है यदि आतंकवादियों के पास में गाड़ियां हो आतंकवादियों के पास में परमाणु बम हो ऐसी चीजें हो तो हम ये कामना नहीं करेंगे कि किसी तरह गलत हो जाए खराब हो जाए इनको चोट पहुंचे ये फिसल जाए ये वहां तक ना पहुंचे इनका टायर फट जाए ये सारी भावनाएं हम करते हैं ये की जानी चाहिए अन्न आदि औषधियां परमात्मा की व्यवस्था से ऐसी बनी है जो व्यक्ति सज्जनों का सज्जनों के प्रति द्वेश करता है उनका अहित करता है उसका अहित होता ही है ये औषधियां और वनस्पतियां उसके लिए हानिकारक होंगी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी उसके लिए धीरे धीरे करके होंगी जैसा जैसा उसका उसके अनुसार ये उस हानिकारक होंगी ये होता ही है होगा और यदि हमारे साथ हो रहा है तो हमें भी सावधान रहना है कि हमारे में जो दुष्टता है उतना हम दूर करें अमोल जी प्रार्थना पूरी होती है तो तो यदि मतलब पूरी कौन करेगा परमात्मा परमात्मा करता है ये पूरी पहली बात तो हमें ये विचार करना चाहिए हमारा मन में भाव सदा ये होना चाहिए हमारे मन में यही भावना होनी चाहिए ये मुक्ति की देने वाली प्रार्थना है मुक्ति में बाधक नहीं है परमात्मा की व्यवस्था से ऐसा है और व्यवहार में यदि हमें करना है कि यदि दुष्ट व्यक्ति है तो हमें उसके चीजों में बाधा पैदा करनी चाहिए महर्षि ने मनुष्य के लक्षण में भी लिखा है अन्यायकारी अत्याचारी का कि भले ही स्वयं कितना भी दुर्बल हो सदा अहित चाहे उसकी हानि चाहे और जो न्यायकारी धर्मात्मा कितना भी दुर्बल हो उसका सदा हित चाहे उसकी सदा वृद्धि करे उसका समर्थन करे ये मनुष्य का पना है ये आर्यपना है ये वेद का आदेश है ऐसे ही हमें करना होता है यदि हम दुष्टों की हानि नहीं करेंगे तो समाज में दुष्टता बढ़ती जाएगी हमने सेना क्यों रख रखी है हमने इतनी पुलिस क्यों पैदा कर रखी है लाखों की संख्या के अंदर न्यायाधीश क्यों बना रखे हैं दोष हटे दुष्टों को पकड़ा जाए दुष्टों को निगृहित किया जाए नियम कानून क्यों बने हुए हैं दुष्टता हटे तो दुष्टता को हटाने के लिए हम जो भी प्रार्थना करेंगे वो उचित होगी लेकिन वेदोक्त तो होनी चाहिए हाँ इसका यह भी मतलब नहीं है कि हम हर काम में निकल पड़े उसके लिए एक व्यवस्था होती है उसके अनुरूप वो किया जाता है विक्रम जी ले सकते हैं उसका भी निषेध नहीं है ले सकते हैं बिल्कुल ले सकते हैं लेकिन कई बार ली नहीं जाती ले नहीं सकते ले जा नहीं सकते उनको नष्ट भी किया जाता है और हम न भी करेंगे तो ईश्वरीय व्यवस्था से तो ये चल ही रहा है सज्जनों के लिए इतना बड़ा समर्थन है ईश्वर की तरफ से इतनी सारी व्यवस्था परमात्मा ने सज्जनों के हित के लिए बना रखी है और जो सज्जन होते हैं उनका हित होगा पर जिन्हें हम सज्जन समझते हैं जो हम सज्जन अपने आप को समझते हैं उसमें हमारे भी दोष बने रहते हैं और इसलिए हम इतनी सुंदर और इतनी समर्थन के रहते भी परमात्मा के समर्थन के रहते भी नहीं बढ़ पाते ये दोष है हमारा दुष्टों को यह समर्थन प्राप्त नहीं है फिर भी वो संगठित होकर इतना फैल जाते हैं वो इतना पुरुषार्थ करते हैं यदि हम उतना भी कर लें उनसे कम भी कर लें तो भी हम फैल जाएंगे क्योंकि हमारे पास ये बल भी है ये व्यवस्था हमारे अनुकूल चल रही है कोई भी होगा वो सज्जनता का सच्चाई का समर्थन करेगा मन में वो ही रखेगा ठीक है प्रणाम करिए शांतिरक्ष शांति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शांति वनस्पत शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शांति सर्व शांति शान्तिरेव शांति सामा शान्तिरेधि ओ शान्तिः शान्तिः शांति सर्वेभ्यो नमः